और उसकी निशानियों में से है कि वो तुम्हें खौफ और उम्मीद के साथ बिजली दिखाता है और वो आसमान से पानी उतारता है फिर उसके साथ ज़मीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद जिंदा करता है बिलाशुबा इसमें उन लोगों के लिए यकीनन निशानियां हैं जो समझते हैं